हिंदी युग टीम आज मौजूद है लोधी रोड स्थित अलायंस फ्रेंस के में जहाँ पे अभी फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी की तरफ से एक आ, जो इनका रंग महोत्सव चल रहा है उसका एक नाटक जो है अभी हमने यहाँ पे देखा है हमारी टीम ने जिसका नाम है कुबड़ और काकी आ, हमारे साथ हैं यहाँ पे शो के डायरेक्टर मिस्टर अतुल अतुल कौशिक अतुल सत्य कौशिक और कुछ मेन आर्टिस्ट भी हैं हमारे साथ यहाँ पे और हिंदी की टीम की तरफ से हैं अतुल सक्सेना और तरुमिता जो खुद भी एक आर्टिस्ट है आ, सबसे पहले तो मैं अतुल जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपने इसमें प्रेमचंद का एक कैरेक्टर लिया एक धर्मवीर भारती जी के कहानी में से करेक्टर लिया किस तरह से इनको असेंबल किया मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि आप दो अलग अलग प्रयासों में से ये चीज़ उठाएं और दो करेक्टर को मिलाएं इसमें सर काफ़ी समय से काफ़ी समय से दिल्ली में ऐसा हो रहा था कि भाई किसी एक लेखक की दो तीन कहानियाँ उठा के उनको एक मंच पर ला दिया जाता है तो पहले हमारे मन में ख्याल आया कि दो कहानियों को अलग अलग दिखाने के बजाय उन कहानियों को एक ही फॉर्मेट पे ला दिया जाए ताकि दोनों कहानियों के किरदार आपस में समा जाएं फिर एक बात चली कि जब दो कहानियाँ चाहिए तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि कहानी एक ही लेखक की हो कहानियाँ दो लेखकों की भी हो सकती हैं तो पारुल ने मैंने हम लोगों ने मिलकर विचार किया कि दो हिंदी साहित्य के जो मजबूत स्तंभ हैं मुंशी प्रेमचंद धर्मवीर भारती उनकी दो कुछ ऐसी कहानियाँ उठाई जाएँ जो बहुत ज़्यादा कहीं सुनी नहीं गई हैं इसलिए हमने बूढ़ी काकी गुलकी बनने उठाई वो ऐसी कहानियाँ थी उनमें ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि जिनको आपस से मिलाया जा सके इसलिए हमने उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर और उनको हमने एक नाटक बनाया कुबड़ों का मतलब आपको लगा कि काकी का का, काकी का जो दर्द था वो कुबड़ का जो दर्द था उसमें कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी समानता थी दोनों ही अलग अलग अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करती हुई नारियाँ थी हम्म। दोनों अलग अलग उम्र की अलग अलग परेशान से जूझती हुई लेकिन दोनों नारियाँ थी तो उनकी उस समानता को हमने मिलाकर एक नाटक बनाया और अंत में जो आपने एक हृदय परिवर्तन दिखाया हाँ हाँ जो एक नरी उसकी इसकी वजह यही थी कि हम इस बात में बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सफ़ेद या पूरी तरह से काला नहीं होता हाँ। मैं अंदर से कुछ काला हूँ कुछ सफ़ेद हूँ मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे मौके आते हैं जिन्हें मेरी बुराइयाँ दबकर और अच्छाइयाँ ऊपर आ जाती हैं तो हम ये बता रहे हैं कि परिवर्तन हमारे अंदर से ही आना है कोई क्रांति की जरूरत नहीं है अगर हर इंसान अपने अंदर परिवर्तन ला ले तो समाज में परिवर्तन लाया जा सकता यानी जो एक्चुअल कहानी थी उसमें आपने परिवर्तन किया है इसके अंदर एक्चुअल कहानी बहुत छेड़छाड़ नहीं है कहानी का फॉर्मेट वही है लेकिन हाँ कुछ किरदार नए डाले गए हैं उनकी भाषा बदल दी गई है कुछ सिचुएशन बदल दी गई है इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का ये बहुत आई थिंक पुख्ता एक ठोस स्टोरी है तो आपको लगता है कि इसको किसी और स्टोरी के साथ ब्लेंड करना it's very easy for you मतलब आपके लिए बहुत इजी पड़ा है यहाँ पे बात आसानी और मुश्किल की नहीं है यहाँ पे बात इच्छा शक्ति की है देखिए मुंशी प्रेमचंद जी कहानी बूढ़ी का की आपने जैसा कहा बहुत सशक्त कहानी है हम्म। लेकिन धर्मवीर भारती जी भी उतनी सशक्त लेखक रहे हैं उनके जिस तरह के उपन्यास हैं अंधा युग जो रहा है और उनका हाँ गुनाहों का देवता रहा है वो भी सशक्त लेखक है उनकी कहानी कम पढ़ी गई है गुल की मन में तो उन दोनों कहानियों को हमने मिलाकर अपनी समानता को खोजा एक्सप्लोर किया और हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठा कर दिया आज के डेट पे इसका क्या रिलेवेंस है देखिए आज के डेट पे रिलेवेंस इतना है कि हम माता पिता सभी के होते हैं और चाहे आप मल्टी मल्टी लेवल बिल्डिंग में रह रहे हैं चाहे आप गांव में रह रहे हैं माता पिता का आदर करना उतना ही ज़रूरी है उतना ही परवेसिव रिक्वायरमेंट है और माता पिता का अनादर हो रहा है चाहे वो गाँवों में हो एक खेतों में काम करने वाला किसान हो या किसी कंपनी का सी हो e वो अपने माता पिता को इग्नोर कर रहा है तो बस उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि आज के युग में भी अपनी एक बूढ़ी माँ जिसको ज़रूरत है प्यार की उसको इग्नोर कर देना उतनी ही बड़ी समस्या है जो कि आज से पचास साठ या पाँच हज़ार साल पहले थी लेकिन जैसे आपने एक कहानी में हृदय परिवर्तन दिखाया कि वो जो है वो अपने माँ के प्रति संवेदनशील हो गई है बट अगेन दूसरी कहानी में आपने ये दिखाया कि जो कुबड़ी है वो जो है वापस अपने पति के साथ गई है जो उसका क्या रीज़न है देखिए उसमें हृदय परिवर्तन हमने वहाँ भी दिखाया रूपा जो अब तक उसको कोस्ती आई थी उसने अंत में उसको साड़ी दी देखिए गुलकी को वहाँ पर रोक लेना और अपने पास रखना शायद एक संभव प्रयास ना होता रूपा के लिए वो हम कुछ ऐसा दिखाना नहीं चाहते जिसको ऑडियंस हजम ना कर पाए ऐसा कुछ दिखाना चाहते जो ऐसा लगे कि नहीं है तो संभव नहीं है तो हमने दिखाया कि उसके अंतर मन में कहीं ना कहीं वो सफ़ेद धब्बे थे जो उनको काले धब्बों ने ओवर पार कर लिया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ जब बहन जी ने कहा कि ये हम इसे किसी की बेटी नहीं लेकिन हम सबकी बेटी है हम्म। तो रूपा को लगा कि शायद मुझे एक हल्का सा योगदान करना चाहिए इसकी तरफ तो उसने उसको अच्छी खड़े ला के दी तो इसमें हम्म। सत्ती कहाँ खड़ी हुई देखिए सत्ती उस नारी के उस आ, उस क्लास को बिलोंग करती है जो जो इंडिपेंडेंट है जो अपनी रक्षा खुद करना चाहती हैं जानती हैं और अपने साथ वो और उन स्त्रियों की रक्षा करना चाहती है और जानती हैं जिनको जिनके पास इतनी सक्षमता नहीं है तो शक्ति आज की मॉडर्न क्लास की उस वर्किंग वुमन को डिपेक्ट करती है हम्म। जो मैन पर डिपेंडेंट नहीं है हाँ मुझे लगता है कि हमें यही डिलीवर करना हाँ, चाहिए that we all are independent we are not हम कोई डिपेंडेंट किसी पे भी हाँ, नहीं एक है। कहानी का एक पॉजिटिव अंत है, है लेकिन दूसरी कहानी जो है वो एक पुराने ढर्रे पर चल रही है देखिए बूढ़ी काकी में पॉजिटिव एंड आप उसको शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने उसको खत्म वहाँ पे किया मैंने ये नहीं बताया कि कल अगले दिन उठ के बुद्धिराम जी ने एक जायदाद वापस कर दी और उसकी पूजा करने बस उस रात ऐसा हुआ कि रूप छुपा ने उनको खाना खिला दिया और हम्म। कहानी वहाँ पे खत्म हो गई हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धिराम ने जायदाद वापस कर दी और उनको भगवान ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा हम्म। मैं वही बता रहा हूँ कि क्रांतिकारी परिवर्तन एकदम से नहीं आते हैं हाँ। उनको लाने में समय लगता है बस बात यह है कि आपके हृदय में जो सफ़ेद हिस्से मौजूद हैं उनको उजागर कर दिया जाए तो बात तो परुल परुल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो जिन्होंने काकी का रोल किया है और इतना सशक्त रोल किया है कि इनकी तारीफ करना के लिए शब्द शायद कम पड़ जाएं तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आ, आ, कैसा रहा आपके लिए अनुभव ये जो आ, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा हम और भी जानना चाहेंगे आपकी इस सोसाइटी के बारे में कि मतलब ये आपका आपने बताया कि पहला पहला फेस्टिवल है तो कैसे इन लोगों की शुरुआत कैसे हुई आपके इस See, it's been one and a half years we started मैं एंड अतुल वी हैड हाँ हमारा पैशन था ये चाहते थे हमेशा से कि एक कला को hmm. का प्रदर्शन किया जाए hmm. जो हम लोगों में टैलेंट है और जो सारे जो हमारे फ्रेंड्स थे जो मेंबर्स थे ग्रुप के hmm. वो सब एक साथ आए सब जितने भी लोग इस मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो सब लोग कहीं ना कहीं दे आर वो काम कर रहे हैं अलग अलग जगह अपने काम के साथ साथ हम ये सब चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है मेरा एक्टिंग हमेशा से पैशन रहा है हमने तकरीबन डेढ़ साल पहले एक ग्रुप स्टार्ट किया था और ये बूढ़ी काकी हमारा पहला तो कितने शो हो चुके हैं तक नहीं नहीं जब हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट शो चार जुलाई को था अच्छा हमारा चार जुलाई को इससे एक साल पहले एक साल पहले ओके तो, तो एक साल में कितने शो हो गए आपके अरे बहुत शोज हो चुके हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री में हो चुके हैं गुड तो बता सकते कि ये कौन से नंबर का शो था जैसे कि फिफ्टी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वन ईयर में इतने नहीं हो पाएंगे ओ टू फिफ्थ शादी फिफ्थ फिफ्थ तो आपने कहाँ कहाँ शूज किए ऑल ओवर इंडिया हमने हिसार निगम सेंटर में किया ओलियांस में किया अच्छा एंड अच्छा। uh, आप कहाँ बेसिकली uh, काम करते हैं किस ग्रुप के साथ काम करते हैं नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ अच्छा। ये ग्रुप मैंने अतुल ने और हम बहुत सारे पारुल आप लोगों ने पहले कोई थिएटर वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ है या इट इज़ जस्ट पैशन मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया बट हाँ मैंने बहुत सारे ग्रुप के साथ काम किया हुआ मैंने इससे पहले दो ग्रुप के साथ काम किया हुआ है प्रोफेशनल लेवल पे थिएटर करते हैं हमारे दिल्ली में दिल्ली में okay. एक मित्र कल्चरल सोसाइटी है हम्म। जो यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छी तरह एक्टिव है एक स्ने Bharati production D P Sinha sir की है उनके साथ काम किया और उसके बाद में एफ टी एस हमने स्टार्ट किया अच्छा तो अब आप इसको यहाँ से और कहाँ लेके जाना चाहते हैं मंदिर क्या वी आर नॉट हम सिर्फ इस इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरी आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड ले जाने की बात कर रहे हैं हमारे कुछ प्लेस हैं जो एक जैसे सिद्धार्थ प्ले हुआ था हमारा वो एक कल्ट बन चुका है हम्म, हम्म। तो हम वी आर प्लानिंग कि उस तरह की ऑडियंस को भी हम कैटर करें जो बाहर इंडिया से बाहर ओके ओके okay, एक अभी आपका प्ले होने वाला है अर्जुन का बेटा बहुत ही प्यारा प्ले और वो पूरी हाँ, वो पूरी तरह से एक मतलब कविता किसके पे मतलब आधारित है का बेटा एक पोइट्री रेसिटेशन है, हाँ। अभिमन्यु का जो युद्ध में जिस तरह से उसके साथ हुआ वो मारा गया वो पूरा युधिष्ठर उसको पूरा बयान कर रहा है बयान कर रहा है नरेट कर रहा है वो पूरा, पूरा एक उसमें और वो बेस्ट पार्ट यही है कि वो पोइट्री में आप लोगों का क्या ये मोटो है कि जो चीज अलग रह गए हैं हाँ, उन चीजों को अनछुए अनछुए देखो अनछुए क्या होता है कि स्टोरी सेम है कैरेक्टर हम्म। यही मिलेंगे आपको हर जगह बट हम्म। तरीका होता है उसको दिखाने का प्रदर्शन करने का तरीका होता है नहीं सेम है जैसे आपने कुबर और काकी में जैसे हाँ। ये पहलू बहुत लोग नहीं जानते हैं हम्म। वैसे ही आप सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं वैसे ही अर्जुन का बेटा भी है कि बहुत लोग नहीं जानते हाँ यूनिक टॉपिक यूनिक टॉपिक और उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना उस अलग वे में जो एफ का स्टाइल है यहाँ पे ऑलियंस में आपने जो आ, मंचन किया नाटक वही आपने एसआरसी में किया होगा बिल्कुल कुछ फर्क लगता है प्रेजेंटेशन के लिए ऑडियंस में देखो ऑडियंस में हर जगह की अलग अलग ऑडियंस होती है बट आजकल देखिए बॉम्बे में थिएटर जितना ज़्यादा एक्टिव है दिल्ली में उसके कंपैरिजन में कम है लेकिन हाँ आज भी दिल्ली में भी इतना इम्प्रूवमेंट हो गई है कि लोग इस चीज़ को मानते हैं जानते हैं थिएटर की दुनिया लोगों के सामने आने लगी है तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थिएटर को और ज़्यादा लोग सराहें जैसे वो फिल्मों के लिए या फिर हाँ, बहुत तो से लोग मेरे ख्याल से मेरी मेरे मेरे पेरेंट्स भी मेरे को देख देख के उनको थिएटर से प्यार हो गया अदरवाइज उनको कुछ नहीं पता था कि थिएटर जैसी चीज़ भी होती है exactly. ये चीज़ मैं कहना चाहूंगी यहाँ के ऑडियंस से कि आके देखे तब पता चलेगा लाइव चीज़ में लाइव चीज़ में क्या उसमें क्या फ़र्क एक्जैक्टली exactly. ये तो हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर से जुड़े क्योंकि जो मज़ा लाइव में है वो शायद किसी उसमें नहीं है शायद एक रिफ्लेक्शन ही है बिल्कुल reflection of the society okay okay. Uh, तो ये मैं पूछ रहा था कि आपका जो अर्जुन का बेटा है उसके भी राइटर अतुल जी है अतुल सत्य तो- ओके उन्होंने पूरा जो चैप्टर है उसको एक पोइट्री में लिखा है पूरा उसको नरेटिव स्टाइल में किया ओके और सिद्धार्थ जो है वो भी वो एडॉप्शन है एक हरमन हैसी जी हरमन की नॉवल है हाँ। उससे एडॉप्शन हम्म, ओके जिसको मिस्टर अशोक छाबड़ा जी ने लिखा है अभी थे यहाँ पे ओके और उन्होंने ही डायरेक्ट किया था उन्होंने डायरेक्ट किया वो प्ले था जो उन्होंने डायरेक्ट किया अदरवाइज जितने भी आप प्लेज आप देखेंगे हम्म। अर्जुन का बेटा कल हमारा टेम्परेरी मैटर है देन जमुना है हम्म। सब टेम्परेरी मैटर क्या है टेम्परेरी मैटर एक कहानी है जुम्बा लहरी जो एक वेल नोन राइटर है उनकी स्टोरी है टेम्परेरी मैटर उस पर आधारित है तो आप आके देखें तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है नहीं एक चीज़ और मैंने नोट की है कि आप लोग के जो अडोप्शन हैं उसमें कुछ अलग भी है मतलब एग्जैक्टली टेक्स्ट नहीं है उसमें आपने काफ़ी कुछ take the format basic story होती है स्टोरी आउटलाइन लिया स्टोरी आउटलाइन लिया कैरेक्टर्स उसमें डाले हम्म, हम्म। और आज की दुनिया से उसको जोड़ दिया खासकर जो भी नाटक मैंने देखा उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स हैं जो और दूसरा क्या है हाँ, कि जो आपने बुढ़ी काकी में देखा होगा कि बहुत से कॉमन कैरेक्टर्स हैं हम्म। अगर आपने बुढ़ी काकी पढ़ा हो तो। हम्म, बिल्कुल पढ़ा मैंने बट गुलकी बन्नो में बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो उसमें कहीं नहीं है नाम निशान नहीं वो नए कैरेक्टर तो उसको लाइवली दिखाना स्टेज पे लाइव करना वो तो राइटर का काम है हम्म, जो अतुल बखूबी निभाया बेंडिंग जो है बेंडिंग मतलब क्योंकि दोनों करेक्टर बिल्कुल अलग अलग तरह के थे उनको आपने बहुत अच्छी तरह से बैंड कर दिया एक एक पूरे एक साथ लाना हाँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट नॉट इम्पॉसिबल हमने घर दिखाया है एक और एक और पहलू एफ टी एस के नाटकों में मैंने देखा कि एक संगीत ग्रुप पहले भी देखा नहीं मैं आज पहली बार आया हूँ क्योंकि हाँ, हमें तो पहली बार पता लगा इस हाँ, बारे में पहले पता ही नहीं था अच्छा, अच्छा। तो एक इनका एक और ख़ास पहलू जो है कि लाइव संगीत बजा जाता है स्टेज के ऊपर ही और एक ब्रह्मनाथ ग्रुप है संगीत का हाँ। जो यहाँ पे परफॉर्म भी करता है साथ के साथ और बहुत अच्छे गाने जो ठेठ देसी गाने जिसे कह सकते हैं भारतीय रंग के रंगे हुए गाने इंडियन फोक म्यूजिक जिसे कहा जा सकता है उस उस चीज़ को इन्होंने किया है ब्रह्मनाथ ग्रुप से हमारे पास हमारे साथ हैं मिस्टर सार्थक तो सार्थक आप बताइए ब्रह्मनाथ के बारे में कुछ ब्रह्मनाथ में हम चार दोस्त हैं जो जिनका इंटरेस्ट एक है हम लोग ज़्यादातर लोग चाहते हैं रॉक म्यूज़िक बैंड बनाए तो रॉक म्यूज़िक तो हमारा जो एरिया है वो हम्म। बिल्कुल अलग है उससे हम लोग पुराना जो म्यूज़िक है हम्म। जो फोक म्यूज़िक है इंडिया का उसको दिखाना चाहते हैं आजकल लोग क्योंकि आजकल सब लोग सिर्फ वेस्टर्न सुनने की exactly, exactly. एरिया में जाते हैं नहीं ये ये आपने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि हम लोग एक आवाज़ मन चलाते हैं हिंदी गुम पे जो पूरी तरह से संगीत को डेडिकेटेड है तो अभी हमने उसमें भी ये इशू रेज़ किया है कि आजकल जो फिल्म मूवीज़ आ रही हैं उसके अंदर मैक्सिमम रॉक म्यूज़िक होता है एंड यू नो जो बैंड स्टार्ट चल रहे हैं जैसे अभी एक बैंड बैंड कॉल नाइन उसका परफॉर्मेंस मैंने लास्ट वीक देखा था यहाँ पे इंडिया हैबिटेट सेंटर में तो उनका भी अगेन वही है कि रॉक म्यूजिक है बेशक वो एक नॉन फिल्मी बैंड है और वो लोग अच्छा कर रहे हैं कुछ डिफरेंट कर रहे हैं no doubt but again rock उनका वो है तो आप लोग एक बहुत अनूठी चीज़ कर रहे हैं जो इंडियन फोक है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं और ये आज के यंगस्टर्स जो हैं वो कर रहे हैं इनको देखते बड़ा अच्छा लग रहा है तो और कुछ बताइए कि आपने अब तक कितने परफॉर्मेंस किया और कितने साल पहले बना था आपका एक ये दो साल पहले बना था दो ढाई साल पहले okay it's going to be three years three अभी तीन साल हो जाएंगे हमको जुलाई हम्म, एंड हम्म, में हम्म। और हमारी परफॉर्मेंसेज हमने स्टार्टिंग में दुर्गा पूजा में की okay. तो श्री फोर्ट में की हम लोगों ने okay. एक होली का फेस्टिवल होता है जिसमें सिर्फ बैंड परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हमने की अभी अभिरथ सेंटर में किया हम लोगों ने okay. खासियत क्या सिर्फ ओरिजिनल म्यूजिक खुद आप खुद कंपोज करते हैं हम्म। सारा लाइफ बचता है सारा लाइफ बचता है in every show every show next भी जो शो होगा उसमें भी लाइव बजेगा ओके नेक्स्ट जो शो आपका बनाया गया अर्जुन का बेटा जो है वो तो पूरा पोइट्री के ऊपर है तो मुझे लगता है उसमें म्यूजिक कैसा ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा और एक एक जैसे आपने इसमें एक एक एक डांस भी इसमें बीच में किया आपने सॉन्ग किया इसके अंदर हाँ एक हाँ उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अतुल देखिए उसकी ज़रूरत कई मायने में पड़ती है एक तो बात यह है कि हमारा जो सोसाइटी है हम्म। वो सिर्फ थिएटर वालों की नहीं है इसमें हम्म। नृत्य वाले लोग भी हैं म्यूज़िक हम्म। वाले भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हर कलाकार को मौका मिले और उसके लिए हम वजह ढूंढते हैं कैसे मौका दिया जाए अच्छा। आप कल का नाटक इंग्लिश वाला आपने देखेंगे उसमें भी हमारा वेस्टर्न डांस है म्यूज़िक है जो जो लेखक है उनको हम गाने लिखने का मौका देते हैं तो हम सारे अपने उनको मौका देने के लिए ऐसे मौके वजह खुद ढूंढते हैं okay. और फिर थोड़ा सा स्क्रिप्ट डिमांड करता है ऐसा नहीं है देखिए स्क्रिप्ट तो हम खुद ही लिखते हैं हाँ, डिमांड हाँ, हमारे मतलब आदमी होते हैं डिमांड करता है हाँ, तभी होता है बिल्कुल डिमांड हम क्रिएट कर लेते हैं हाँ। हम वो इसलिए है ताकि मेरे ख्याल से हर तरह के ऑडियंस जुड़ सके राइट वो भी एक वजह है हर तरह ऑडियंस जुड़ सके ऑडियंस थोड़ा सा लाइट मूड हाँ, मिल जाए बहुत सारे क्योंकि दोनों कैरेक्टर बहुत सीरियस हैं तो कहीं वो टेम्पो क्रैक ना कर दे ये भी हो सकता है वो वो वो एक नाटककार की और लेखक की अपनी स्किल है कि वो कैसे टेम्पो ब्रेक ना होने दे हम्म। बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नाटक लोग नहीं नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है कि वो इंटेंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो फिल्म के ऊपर से निकल गया अंधा युग के मंचन मैंने बहुत देखे हैं अंधा लगता है कि इतना दुख होता है कि इतनी अच्छी कृति इतना अच्छा नाटक हम्म। और लोग उबासियाँ लेकर आ गए हम्म। क्योंकि डायरेक्टर तैयार नहीं है बिल्कुल भी हल्का सा भी एक सांस लेने का मौका देना के लिए ऑडियंस के लिए और ऑडियंस जो आई है देखने के लिए वो दो घंटे बिल्कुल ऐसे बंद के नहीं बैठ सकती आपको उनको सांस लेने का मौका भी तो आप अपने इस प्ले का की फैक्टर किसको मानते हैं इस नाटक का की फैक्टर प्रेमचंद और धर्मी भारती की लेखनी उनकी जो कहानियाँ हैं उन हमने तो बस उनको थोड़ा सा सजा के पेश कर दिया है तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरह से नाटकों में आए किस तरह बेसिकली मैं पेश से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से hmm. और मैं बचपन से ही आठवीं क्लास से मुझे स्टेज पर जाने का शौक था पहले मैं खुद जाया करता था बट मेरे को दो साल में पता चल गया कि मैं इतना अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूँ जितना अच्छा मैं लेखक और डायरेक्टर हूँ hmm. तो फिर मैंने फैसला किया मैंने ग्यारहवीं क्लास से लिखना शुरू किया नाटकों वगैरह को मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा तीन साल मेरी अच्छी किस्मत है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और हमने तीन साल थिएटर किया दिल्ली का कॉलेज थिएटर बहुत ज़्यादा अच्छा है उसने बहुत अच्छे अच्छे नाटककार दिए हैं तो बस मैं भी अपने आप को वहीं का उत्पाद मानता हूँ हम्म। उसके बाद जो लत लगी वो छुट्टी नहीं हमने सी भी करी लॉ भी करी बट हम्म। वो चीज़ नहीं छूट पाई हम्म। हमने ग्रुप बनाया हम लोग अब शनिवार रविवार को मिलते हैं सब लोग यहाँ पे वर्किंग है कुछ पढ़ रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं जो है शनिवार वीकेंड थिएटर ग्रुप है वो वीकेंड थिएटर ग्रुप है कितने लोग ग्रुप है आपका ये देखिए हमने स्टार्ट तो दो लोगों ने किया था इस वक्त हमारे पास पचास से ज़्यादा मेम्बर्स हैं बहुत अच्छा और ये हमने उपलब्धि सिर्फ डेढ़ साल में हासिल की बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये ये एक मिनट अतुल आपसे एक सवाल पूछना हाँ चाहता हूँ हाँ हाँ आपको क्या ऐसा लगता है आज से दस पंद्रह साल पहले जो थिएटर से जुड़े हुए लोगों की एक हम्म। उनके बारे में धारणा रखी जाती थी हम्म। कि ये कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है हम्म। कोई खास स्टेटस नहीं देता है हाँ। अनुपम खेर या नसीरुद्दीन शाह जैसे कुछ सरीखे निकल गए तो निकल गए वरना कुछ खास इसका मकसद नहीं है क्या उस उस धारणा में कोई बदलाव आया है देखिए धारणा में बदलाव आया है सिर्फ और सिर्फ थिएटर के हल्के से कमर्शलाइजेशन से और लोगों की सोच में परिवर्तन से जैसे जैसे एजुकेशन लेवल लोगों का बढ़ रहा है जैसे लोगों के पास वीकेंड फ्री होने लगे हैं हम्म, हम्म। तो उन्होंने जाना शुरू किया मूवी हॉल्स में हम्म। और मूवी हॉल्स में एक एक समय के बाद वो कुछ नयापन ढूंढते हैं वो नयापन उनको थिएटर मिलता है दूसरी बात जो क्रांति आई थी सिनेमा में बाहर का पैसा आने के बाद दो क्रांति अब थिएटर में आने वाली है आज से बीस साल पहले कोई कॉर्पोरेट फिल्म से पैसा नहीं लगाता था हम्म, हम्म। आज आदित्य बिरला भी लगा रहे हैं आज मुकेश अंबानी पैसा लगा रहे हैं और हम्म। उससे फिल्मों को किक मिला है और अब हम उसी मूवमेंट पे उसी क्रांति पर मैं निकला हूँ मुझे थिएटर में पैसा इस तरह से लाना है कि जो बंदा थिएटर कर रहा है उसको पैसा मिले जो बंदा थिएटर देख रहा है उसको पूरा आनंद मिले और जो थिएटर में पैसा लगा रहा है उसको अपना रिटर्न मिले इसीलिए मैं मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ फाइनेंस का प्रोफेशन है मैं अपने उस स्किल को जोड़ना चाहता हूँ अपने इस आर्ट आर्ट के साथ हम्म, हम्म। और मैं एक नया एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ लोगों के सामने कि थिएटर को भी आप लेके जा सकते हैं जहाँ तक आपकी क्षमता है कोई रुकावट नहीं है बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और वही मैं कर रहा हूँ अभी जो आपका ये शो हुआ है इसमें आपको प्रॉपर फाइनेंस मिला है देखिए इस शो में हमने आ, आ, अप्रोच किया तो मुंबई की कंपनी है सारा ग्रुप उनको थिएटर में थोड़ा सा उनको अच्छा लगा कि हाँ एक अच्छा वेन्यू है हम्म। उन्होंने हमको थोड़ा सपोर्ट किया बाकी हमारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन कि हमारा पहला फेस्टिवल है हमको पूरी उम्मीद है कि हर साल हम इस तरह के शोज़ करेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंस हमारे पास आएगा बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमको इसमें कोई शक या संदेह नहीं है नहीं बट अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी फाइनेंस आपने अपने आप खुद किया है हाँ तो आपको लगता है कि इतने मतलब कई बार आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास नहीं होता कि वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल खुद का मतलब ये है कि हमने अपने आर्टिस्ट से पैसा हम नहीं लेते हैं हम्म। जैसे कि हम लोग मैं हूँ कुछ और लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं जो सेटल हम्म। मतलब आपने क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन दे दिया हाँ और अपना क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन दे दिया हमने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे दिया इस तरह से इस बार के लिए स्पॉन्सरशिप है हमारे पास सारा ग्रुप एक कंपनी है हम्म। हम्म। मुंबई की एक दिल्ली कंपनी है अकेले मैनेजमेंट उन्होंने हम्म। छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन दिया बाकी हमने खुद अपने आप से कंट्रीब्यूट किया बाकी टिकट सेलिंग से हम लोग रिकवर करते हैं हम्म। बहुत सारे बहुत सारे ग्रुप इसलिए खुल के और बंद जाते हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सर्वाइव हमको ऐसा नहीं करना है हमको सर्वाइव भी करना है, है कि थिएटर से इनकम नहीं होता हाँ वही उसी धारणा को मुझे गलत करना है उसी धारणा तो को बदलना है बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं और आप देखें हालांकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है लेकिन किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक एक अच्छा स्टेप है हिंदुस्तान की तरफ से हम्म, हम्म। जो कि विश्व विख्यात हो रहा है हालांकि एक नॉर्मल थिएटर वाले बंदे को वहाँ तक पहुँचने में शायद सारी उम्र लग जाए वो ना पहुँच पाए लेकिन वैसा कुछ हम लोग जरूर क्रिएट कर सकते हैं हमें पूरा भरोसा है हमने करके दिखाया है हम्म। आप देख लीजिए दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं चाहे वो मित्र सोसाइटी है चाहे वो अस्मिता वो है तो पिछले चार पाँच छः साल से एक ही तरह के नाटक रिपीट किए जा रहे हैं हम्म। वो नया प्रोडक्शन नहीं ला पा हाँ, ये भी एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि ये भी एक मतलब नाटकों की लोकप्रियता की कमी करता है कि वो नाटक रिपीट होते हैं एक ही नाटक को करे जाते हैं करे जाते हैं हाँ, हमने क्योंकि मैं मैं देख रहा हूँ कोर्ट मार्शल हम लोग अभी एक्ट कोर्ट मार्शल को कम से कम बीस सालों से चल रहा हाँ, है कोर्ट मार्शल देखते हुए जमाना हो गया नादरा जी ने सकूबाई के आज तक बाईस सौ शो कर डाले डाले इस तरह से नाजरा जी ने बाईस से शोकर डाले को उसके सकू भाई के कोर्ट मार्शल हुआ आपका राम कली पिछले दो साल से चल रहा है तो इस तरह से वो एक नाटक बन जाता है वो उसी को रिपीट करते आते हैं तो उसमें क्या होता है ड्रॉबैक हाँ रचनात्मकता पे एक, एक ब्लॉक लग जाता है हम्म। हमने फैसला किया हर साल में पांच नाटक बनाएंगे हम्म। जरूर बनाएंगे जो नाटक अच्छे चल रहे हैं उनको आगे रिपीट भी करेंगे अदरवाइज हम लोग इतनी जंग हैं अगर हम अभी से बैठ जाएंगे नाटक चार करके हम्म। तो क्या कीजिएगा साहब बीस साल बढ़े अभी बिल्कुल सही बात है हम हर साल दो तो नाटक नहीं होना तो चाहिए उसकी लेखनी चलती नहीं चाहिए नाटक लिखिए जाइए एक आज बनाइए कभी बनाइए कभी बनाइए इस तरह से एग्जैक्टली ओके okay, एक बार हम ब्रह्मनाथ के ऊपर आते हैं तो ये बताइए कि मतलब आप लोग जो अपना फोक म्यूज़िक का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं तो किस तरह से गाने लेते हैं आप मतलब बाकायदा जो ट्रेडिशनल फोक होता है उसको ढूंढते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं उन पर हाँ, काम करते हैं हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं दो बंगाली हैं ओके okay. और दो पंजाबी हैं ओके okay. तो जो बंगालीज हैं उनकी साइड से हमारे को बंगाली फोक मिल जाता है ओके जो जो पंजाबी काफी काफी मिसमैचिंग कॉम्बिनेशन है <laughs> और जो पंजाबी है वो हम लोग अपनी तरफ से पंजाबी फोक ऐड करते हैं ओके बाकी अगर कोई बाहर जाता है कहीं पे या हाँ। कहीं भी और कहीं जा रहा है हाँ। तो जैसे जो हमारा एक मेंबर है हम्म। वो हिमाचल गया हम्म। तो वहां से वो एक गाना लाया okay. जिसको हमने कंपोज किया okay. तो, तो जैसे अभी आपने जैसे आज के शो में भी एक ट्रेडिशनल विदाई गीत आपने यूज़ किया है कहे ब्याही विदेश तो ये ये मतलब ट्रेडिशनल से थोड़ा सा डिफरेंट किया था आपने उसको हम्म। तो ये ये कैसे हुआ ये मतलब कैसे करते हैं आप लोग इसको मतलब हमारा माइंडसेट अब तक इतने गाने कंपोज करने के बाद ऐसा हो चुका है कि एक गाने को हम सेम वैसे नहीं कर सकते जैसे ऑलरेडी हुआ हुआ है ओके okay. कुछ डिफरेंस तो बनता है तो डिफरेंस बनता है हम्म। बस तो कोई एल्बम वगैरह वर्कआउट हो रही है अभी जो गाने हमने जैसे कल बजाया था तो वो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग तो है हमारे okay. पास तो हम्म। वही हम भेजना चाहते हैं अलग अलग कंपनीज के पास जो ये तो है नहीं कि हम वर्किंग है हम्म। कि हम इतना फंड जनरेट कर सकते हैं कि हम्म, हम हम्म। दस गाने अपने रिकॉर्ड करवा सकें अच्छे स्टूडियो में तो हमारे पास एक गाना ऑलरेडी रिकॉर्डेड है अपना ओके okay. बाकी गाना रिकॉर्ड करने जैसे अगर हम अपनी ये परफॉर्मेंस के कैसेट्स या जो सीडी अगर भेजते हैं अगर वो अप्रूव हो जाए किसी अच्छी कंपनी से तो वहाँ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो okay. और आपका जो प्ले का जो बेसिकली जो म्यूज़िक होता है जो आपका बैकग्राउंड होता है वो आ, आप लोग खुद ही लिरिक्स तो आई थिंक अतुल लिखता है हाँ तो ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग उसको ब्लेंड करते हैं म्यूजिक हम्म। कंपोज करते हैं या जैसे जब हमारे को लिरिक्स मिलती हैं हम्म। तो हमें पहले एक बार या तो सीन दिखाया जाता है कि किस सीन में हो रहा है हम्म। या फिर हमें मूड बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द मूड कि हाँ, तो किस कि किस तरीके का मूड है किस तरीके की जगह है या किस टाइम का है तो उसके हिसाब से हम लोग बनाने की कोशिश तो आप लोग जो है जब इनको लोग रिहर्सल्स होती है तो आप लोग इनके साथ बैठते हैं सिटिंग्स करते हाँ। हैं ओके जैसे एक बार हमें कोई गाना मिल गया लिरिक्स मिल गई तो या तो हमारे सामने एक बार सीन होता है वो हम्म। या फिर हमें बता दिया जाता है कि कैसा मूड है उस गाने का कैसे लोग होने वाले हैं या किस टाइम इंटरवल में वो सीन है बेसिकली सिचुएशन हम्म। क्या है उस सीन का हम्म। उसके हिसाब से हम लोग फिर बनाने की कोशिश करते हैं um, अलग अलग जैसे अगर एक गाना अर्बन बन जाता है तो उसको कैसे हम लोग ट्रेडिशनल क्रिएट करें तो वो टाइम लगता है उसका थोड़ा लेकिन कोशिश कर लेते हैं uh, मतलब हम लोग जहाँ से आए हैं हिंदी गम जो है एक ऑनलाइन कम्युनिटी है और उसका एक अलग सेपरेट सेक्शन है आवाज़ करके जो संगीत को कैटर करता है म्यूज़िक को कैटर करता है तो मैं उसका संचालक हूँ और आवाज़ के माध्यम से अभी हम लोग साठ सत्तर नए म्यूजियंस को लॉन्च कर चुके हैं तो हमें खुशी होगी अगर आप भी कोई अपना गाना जो है हम लोग दें हम उसको लगाते हैं अपने वेबसाइट पे और लोगों तक पहुंचाते हैं उसकी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और कुछ आप सुनाना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा जो जो आज आपने सुनाया है उनमें से कुछ थोड़ा सा आज शायद आपको कोशिश मतलब कोशिश नहीं मौका थोड़ा तो कम मिला था वो <laughs> मैंने देखा था एक एक फीमेल सिंगर भी आपके पास है नहीं वो एक्चुअली एफपीएस की है ओके और she is very good singer I mean अच्छा गाती है बहुत बढ़िया गाती है तो आप कुछ सुनाइए कुछ थोड़ा सा एक ब्रह्मनाथ का इंट्रोडक्शन दे दीजिए <laughs> तो माझी रे ओ माझी रे तेरी नैया बुलाए तुझे प्लीज कैरी ऑन सुहा सवेरे जब वो कोयल पुकारे सुबह सवेरे जब वो कोयल पुकारे तब तू अपनी आंखों से वो नजारा सजा ले ओ माझी रे ये हमने खुद लिखा है ये बांग्ला फोक जो है हमने लिया नहीं आ, ऐसी एक हमारे गिटार ने ट्यून निकाली और okay. उस पर जाम शुरू हुआ लिरिक्स खुद बन गई okay but very very beautiful very melodious हाँ हम्म, बहुत hmm. सुनते ही बंगाल हाँ। लेकिन उससे काफ़ी डिफरेंट है हमारा तो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी आपके शोज अभी होने वाले हैं उनके लिए भी और संपर्क में रहिएगा ताकि हम लोग और अच्छे कोलोब्रेशन कर सकें जरूर Thank you.